एक से पृष्ठ में मंत्र चले तशेष आदेश यदि तद विद्युतो व्यद्युताद व्यद्युतदा इति न्यमिषदा इत्यादि दैवतम तस्य एष आदेश तस्य ब्रह्मण यह आदेश है उपमा से उपदेश किया गया था उपासना करने के लिए यद एतत् विद्युत का व्यद्युतदा इति व्यद्युतद आ व्यद्युत देहे लुंगल का भी अद्युत द्विद्व लुंगी होता है भी अद्युत विद्युत अवितदा विद्युतन किया तो विद्युत संबंधी विद्युतन किया ब्रह्म ये तो ठीक नहीं होगा वो तो स्वयं प्रकाश ब्रह्म है इसे विद्युतो विद्योतनम इव विद्युत का प्रकाश जैसे आ उपमा के लिए आ इव के अर्थ में और इतिशद कोई अर्थ नहीं ये आ उपमा के लिए विद्युत का विद्योतन के प्रकाश के समान जैसे विद्युत होकर प्रकाश होकर के सारे सब को प्रकाश कर देता है क्षण भर के लिए इसी प्रकार ब्रह्म एक बार प्रकट हो गया फिर तुरंत हो गया नियमि सदा इति अनियमिषद इति चक्षु जिसके बंद हो जाता है थोड़ी देर बंद हुआ फिर को खोल दिखता है तुरंत बंद हो गया तुरंत बंद हो जाता है इसी प्रकार इंद्र के समय इंद्र जब गए तो अंतर्दत हो गया तो उसे उपदेश नियमिषदा नियमिषद आ उसके जैसे ऐसे चिंतन करना इति अधिदेवतम देवता संबंधी आदेश है इसे उपासना करने के लिए पदभाष्य अलग-अलग है हाँ पहले पदभाष्य तस्य प्रकृतस्य तस्य का अर्थ ब्राह्मण प्रकृतस्य ब्राह्मण ऐसा आदेश आदेश का उपम उपदेश उपमा का उपदेश उपमयति अन्य अन्य अन्य उपमा निरुपम से ब्रह्मणो येन उपमानेन उपदेश स्वयं आदेश उच्यते ब्रह्म निरुपम निर्गत उपमा इससे जिसकी उपमा है ही नहीं ऐसे ब्रह्म के लिए उसके सदृश कोई पदार्थ है ही नहीं अद्वितीय ब्रह्म है बाकी सब मिथ्या है येन उपमानेन उपदेश जिस उपमान के द्वारा उपदेश किया जाता है उसको आदेश कहा गया आदेश कहा जाता है किंतद उपमा उपदेश आदेश क्या है यद एतत् एतद कहते प्रसिद्ध अर्थ यह जो प्रसिद्ध है लोके में प्रसिद्ध है विद्युतो व्यद्युतद विद्युतो व्यद्युतद का अर्थ करते विद्युतनम कृतवत विद्यु व्यद्युतते लुंग लकार में उसका अर्थ है विद्युतन कृतवत विद्युतन क्या प्रकाश ही हुआ किंतु यह अर्थ विद्युत संबंधी प्रकाशन किया ब्रह्म यह अर्थ नहीं होगा अनुपपन्नम अप्रमाणिक होता है विद्युत विद्योतनम इव कल्पते विद्युत के विद्योतन प्रकाशन जैसे विद्युत का जैसे प्रकाश होता है ये अर्थ है विद्युत है अतीत अर्थ किंतु उसका भाव लूट करके विद्युतन प्रकाश जैसे कल्पना ऐसा अर्थ करना पड़ेगा क्योंकि विद्युत संबंधी प्रकाशन किया ब्रह्म ऐसा अर्थ नहीं होगा ब्रह्म स्वयं प्रकाश है विद्युत संबंधी प्रकाश नहीं होगा तथा विद्युत से कुछ प्रकाशन क्या ये भी पंचमी षष्ठी विद्युत दोनों प्रकार करेंगे विद्युत के साथ अन्य ठीक नहीं होता है टीका में दिया विद्युत सकाशात विद्युतन कृतवत इत अनुपपन्नम पंचमार्थ करेंगे विद्युत से प्रकाशन किया ये नहीं होगा क्योंकि ब्राह्मण स्वयं ज्योतिष्ठात ब्रह्म स्वयं प्रकाश तो विद्युत के संबंध से विद्युत से प्रकाशन कैसे करेगा पराधीन प्रकाशानुपते ही पराधीन प्रकाश नहीं हो सकता है विद्युत से प्रकाश हुआ इस अर्थ नहीं होगा तो विद्युत तो पंचम अर्थ नहीं पंचम अर्थ नहीं तो षष्टि माने षष्टि मानेंगे तो विद्युत संबंधी प्रकाशन ये भी नहीं बनेगा विद्युत तो षष्ठी कहते विद्युत संबंधी प्रकाशन के तब विद्युत संबंधी द्योतन कृतवत ये भी नहीं बनेगा अनुपपनम क्योंकि विद्युत संबंधी प्रकाश ब्रह्म क्या अन्य आश्रय से विद्युत संबंधी यदि द्योतन है विद्युत संबंधी प्रकाशन प्रकाशन विद्युत में है जो विद्युत संबंधी प्रकाशन उसको ब्रह्म ने किया अन्य आश्रय से विद्युतन से अन्य कर्तृत्व अनुपपते अन्य में जो आश्रित है नहीं होगा अथवा ब्रह्म में द्योतन प्रकाश विद्युत से हुआ विद्युत में प्रकाश ब्रह्म से हुआ ऐसे नहीं होगा इसलिए विद्युतः विद्युतनम एव ऐसा अर्थ करना पड़ेगा अतः अतो यथाश्रुतार्थानुपपत्तो असंभवात् जैसे विद्युतः व्यद्युतद ऐसा है ऐसा अर्थ संभव नहीं होने से अन्यत्र तात्पर्य वक्तव्य मित्यर्थ अन्यत्र तात्पर्य प्रकाशन जैसे तो व्यद्युत तिंगंत है उसका विद्युत विद्युतनम ऐसा अर्थ कृद्यंत अर्थ करना विद्युत का विद्युतन जैसे विद्युत का प्रकाश जैसे होता है ऐसे ब्रह्म का चिंतन करना विद्युत एवकार प्रकाश होकर के सब को प्रकाश कर देती है इसी प्रकार ब्रह्म स्वयं प्रकाश ब्रह्म एक बार सबका सबका प्रकाशक है आ इति उपमार्थे भाष्य में आया विद्युतदा विद्युतद आ आ उपमा उपमा के लिए इसी प्रकार विद्युतो विद्युतनम इव इत्यर्थ विद्युत के विद्युतन प्रकाशन जैसे ऐसे ब्रह्म का चिंतन करें यथा सकृत विद्युतम इति श्रुत्यंतरे च दर्शनात् बृहदारण्य निकाय सकृत विद्युतम एक बार प्रकाश हो गया सबका प्रकाश के एक साथ सबका प्रकाश कर लेता है विद्युत विद्युत इव ही सकृद आत्मानम दर्शयित्वा ब्रह्म देवेभ्य क्योंकि विद्युत जैसे एक बार प्रकाश होकर सब प्रकाश कर दिया फिर समाप्त हो गया इसी प्रकार एक बार अपने को दिखा करके ब्रह्म तिरुपत शिव के देवताओं के सामने इसलिए प्रकाशन जैसे ऐसे ब्रह्म का चिंतन करने के लिए उपदेश है उपासना के लिए अथवा विद्युत तेज अध्याहार्यम तथा विद्युत के तेज जैसी इसे तेज अध्याय करके अर्थ करना विद्युत विद्युतन विद्युतितवत आइव विद्युत के तेज के जैसे प्रकाश है विद्युत तेजः सकृत विद्युतितवत इव इति अभिप्राय अर्थ होगा विद्युत का जो प्रकाश है उसके समान एक बार प्रकाश हो गया सम प्रकाश ब्रह्म विद्युत विद्युतदा इति आगे इति सदाया विद्युतदा इतिन विद्यतदा इति आगे फिर ईद ईद इति इति तो हो गया इस प्रकार आगे इत शब्द आया इति शब्द आदेश प्रतिनिर्देशार्थ इतयम आदेश इति इति शब्द हो गया ऐसे आदेश है इति महाईश्वराणि सूत्राणि सब का निर्देश करने इति इस प्रकार आदेश है विद्युत विद्युतनम इव इति इस प्रकार उसका आदेश है आदेश परामर्श करने के लिए आदेश प्रतिनिर्देशार्थ आदेश का परामर्श करने के लिए इति शब्द हुआ इति अयम आदेश ऐसे इति अयम आदेश इस प्रकार आदेश है और इति कहने के बाद और एक इति इति इति इति इस शब्द अर्थ इस शब्द समुच्चय करने के आगे भी आदेश है और आदेश है ठीक है मैं प्रतिनिर्देशार्थ है इति परामर्शार्थ उसको उस आदेश का परामर्श करने के लिए इति शब्द आया आगे अन्य से आदेश भी है अथ अयम च अपरस तस्य आदेश इत शब्द देने से और एक आदेश है कोसो न्यमि न्यमिमिषत यथा चक्षुर न्यमिमिषन निमेषम कृतवत चक्षु जैसे बंद हो जाती है निमेषन बंद हो गया स्वार्थे निच न्यमिमिषत मिष में निज निजंत अर्थ अध्याय करके साथ में नीच करके निजंत अध्याय नहीं निजंत का अर्थ तो नहीं नीच प्रत्यय है किंतु नीच अर्थ का कोई अतिरिक्त अर्थ नहीं नि अमिमिषद निमेषण किया बंद हो गया अब आगे भी अनियमिषद आ है आ भी उपमार्थ है वह आकार उपमा के लिए जैसे पहले व्यद्युतदा ऐसे नियमिषदा चक्षुष विषय प्रति प्रकाशितिर्भाव इव चैत्यर्थ विषय प्रति प्रकाशितिर्भाव विषय का दर्शन होता है चक्षु हठात बंद हो जाता है शीघ्र बंद कोई कुछ आएगा कीड़ा दे तो अपने आप बंद हो जाता है एकदम बंद हो गया जिस प्रकार विषय के प्रति तिरोभाव हो जाता है इसी प्रकार ब्रह्म देवताओं के सामने से तिरोभाव हो गया ब्रह्म इत्यादि दैवतम इसे देवता विषय ब्रह्म का उपमान दर्शनम ब्रह्म का उपमान दर्शन इस उपमा से सादृश्य से ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए ठीक है चक्षु से निवेशनम द्रुतम भवति इति प्रसिद्धम चक्षु बंद हो जाना शीघ्र प्रसिद्ध है तद्वत ब्रह्मणि क्षिप्रकारित्वम ऐसे ब्रह्म शीघ्र करने वाले सब क्या करते ब्रह्म सृष्टि आदु सृष्टि स्थिति प्रलय करने के ब्रह्म परमात्मा ऐसा आंख बंद करने के लिए कुछ प्रयास करना नहीं पड़ता है इसी प्रकार ब्रह्म सृष्टि आदि करने के लिए क्षिप प्रकार जब चाहे संकल्प मात्र से सारा ब्रह्मांड और संकल्प मात्र सब समाप्त है प्रतिबंध अभावेन आयास अभावेन च धृतकारित्वम धर्म अधिदेवतम कोई प्रतिबंध नहीं है प्रतिबंध अभावेन प्रतिबंध नहीं होने पर कोई प्रयत्न करके बनाता है तो उसमें भी समय लगेगा आयास अभावेन कुछ करना नहीं पड़ता संकल्प मात्र जो हो गया आयास भी नहीं इसलिए द्रुतकारित्वम धर्म शीघ्र करना है ब्रह्म में ये द्रुतकारित्व तो धर्म है ऐसे चिंतन अधिदैवतम देवता संबंधी परमात्मा से उपासना करना सगुण ब्रह्म में यद ध्येयम ब्रह्म तद्यथा विद्युतः प्रकाशो युगपत विश्वव्यापक तथा निरतिश ज्योतिरूपम द्रुतम सकल सृष्टि आदिकारी पारमेश्वर्य संपन्नम इति उपमान उपदेशन उक्तम एक कहा गया यद ध्येयम ब्रह्म ध्यान का विषय ब्रह्म ध्येय उपास्य तद कैसे है यथा विद्युत प्रकाशो युगपत विश्वव्यापक व्यापक तथा विद्युत का प्रकाश बिजली मानने पर एक साथ सारे सब को प्रकाश युगपत विश्व व्यापक प्रकाश है तथा नियत से ज्योति रूपम नियत से ज्योति स्वयं प्रकाश ब्रह्म उसे बढ़कर कोई अधिक प्रकाश नहीं सबका प्रकाश है और दूसरा द्रुतम सकल सृष्टि सृष्टियाधिकारी द्रुत द्रुतकारितम सकल कार्य करने द्रुत शीघ्र बस संकल्प मात्र से हो गया सकल सृष्टि आदि से स्थिति प्रलय परमेश्वर संपन्नम ये परम पारमेश्वर पारमेश्वर्य परमेश्वर से इदम पारमेश्वर्यम से युक्त ये धर्म इति उपमान उपदेशन उत उपमान उपदेश के द्वारा ये कहा गया इस प्रकार उपासना करें ब्रह्म का की टीका में चतुर्थ मंत्र तो टीका में तो हो गया हाँ चतुर्थ हो गया ना और वाक्यवास अलग है ना एक अलग है हाँ वाक्यवास देखो वाक्यवास है एक सौ ग्यारह में तेरह में अच्छा तेरह में तेरह हो गया तस्य तस्य ऐसा आदेश तस्य ब्रह्मण एष वक्षमान आदेश उपासना उपदेश इत्यर्थ तस्य कात ब्रह्मण एष कात ये आगे कहने वाले एतसद समीपतरवर्तिन एतत् का रूप होता है अभी आगे कहेंगे तो कहते एष आदेश ही सामने उपासना उपदेश उसमें तो उपमा उपदेश कहा गया उपासना उपदेश उपासनाय उपदेश उपासना करने के लिए उपदेश है ठीक है मैं तस्माद इत्यस्य अपेक्षितम पाठ व्यत्यासेन व्यासस्ति तस्माद अच्छा आगे अच्छा हाँ, तो भाष्य में यस्मा देवेभ्य विद्युत दिव सहसेव प्रादुर्भूतम ब्रह्म द्वितीयमत तस्माद् विद्युतो विद्युतनम यथा यदेतद् ब्रह्म विद्युतद् विद्युतितवत् यस्मा देवेभ्य विद्युत इव देवताओं के लिए विद्युत के समान सहसेव प्रादुर्भूतम जैसे मेघ के समय हठात बिजली एकदम प्रकाश इसी प्रकार देवता के सामने हठात प्रकट हो गई सहसेव प्रादुर्भूत प्रकट हो गए ब्रह्म द्वितीयमत प्रकाश वा स्वयं प्रकाश ब्रह्म तस्माद विद्युतो विद्युतनम इव ऐसे चिंतन करे उपासना विद्युत के विद्युतन के समान विद्युतो विद्युतनम यथा यदि ब्रह्म विद्युत विद्युतितवत इस प्रकार ब्रह्म विद्युत के प्रकाश जैसे है वा या इव इति उपमार्थ आदेश आकाश इव उपमा के लिए ऐसे प्रकाश जैसे ऐसे ब्रह्म का चिंतन करें यथा घनांधकारं विदार्य विद्युत सर्वत्र प्रकाशत एवं ब्रह्म देवानां पुरत सर्वत प्रकाशवत् व्यक्तिभूतम् घना अंधकार अत्यंत निविड़ घू अंधकार है इसको अंधकार को विधान करके एकदम बिजली वाने पर पूरा प्रकाश हो जाता है इतने जोर प्रकाश हो जाता है कमरा के अंदर भी प्रकाश आ जाता है बाहर इतने प्रकाश हो कमरा के अंदर बैठे हठात प्रकाश आ जाता है इतने जोर प्रकाश हो जाता विद्युत विद्युत प्रकाश प्रकाशते है सब और प्रकाश कर हैं क्या दिया विद्युत हलनते है विद्युत सर्वत प्रकाशते हरंत विद्युत तकार हल विद अथा विद्युत सर्वत्र प्रकाशत सावर प्रकाशते एवं तद ब्रह्म देवानां पुरतः सर्वत्र प्रकाशवद व्यक्तिभूतम ऐसे देवताओं के सामने बुरा प्रकाश होकर के प्रकट हो गए अतो विद्युत इव इति उपास्यम विद्युत इव ऐसे विद्युतन जैसे प्रकाश हो गया ऐसे उपासना करे प्रकाश जैसे आगे भाष्य में यथा सकृत विद्युत्तम इति जतने के बृहदारण्य का सकृत विद्युत्तम एक बार प्रकाश हो गया सौ का प्रकाशक यस्मा च इंद्र उपसर्पण काले नमिमिषत इंद्र जो हो गया तो छिप गए इसी प्रकार चिंतन करना यथि यथा कस्य चक्षुर निमेषणम कृतवानिव कोई चक्षु को बंद कर देता है तुरंत बंद हो जाता है पता नहीं चलता कितने बार चक्षु बंद हो जाती है खोल कर रखना चाहिए तो ही बंद हो जाता है आंख हाँ, खोल कर रखो कितने देर तक बंद हो जाता है ऐसी प्रकार हठात बंद हो गया इति इद इति अनर्थ को निपातो इति इति दो उसमें तो इति शब्द आदेश परामर्श करने के लिए इति शब्द क्या समुच्चय के लिए कहा इति इति अनर्थक निपात कोई अर्थ विशेष नहीं निमिषद इव तिरुभुतम इति एवम अतिदेवतम निमिषद जैसे बंद हो जाती तिरुभुत चिप क्या ब्रह्म इस प्रकार देवताया अधि देवता संबंधी या दर्शनम अधिदेवतम तत देवताय में जो दर्शन है उपासना है देवता संबंधी उपासना इसे चिंतन उपासना करे ठीक है मैं विद्युत दृष्टांतेन अत्यंत दीप्तिमत्वम विद्युत विद्युत नैव उस अत्यंत प्रकाश स्वयं प्रकाश ब्रह्म से चिंतन करें निमिषण दृष्टांत से देवेरपि दुर्वि दुर्गे देवताओं के भी ज्ञान नहीं हो पाया अच्छे भी गए इसी दृष्टांत से दुर्गे दुर्गेम इति गुणद्वयम उपासना देवान अधिकृत्य देवताओं को निमित्त करके ये गुण है विवक्षितम अतएव तद गुणद्वय विशिष्ट उपासनम आधिदैविकम उच्यते इसलिए गुणद्वय विशिष्ट ब्रह्म का उपासना को आधिदैविक उपासना कहते चतुर्थ मंत्र समाप्त हुआ आगे पंचम मंत्र 102 पृष्ठ में अथाध्यात्मम यदि तद गच्छति वचमनुवनेन चैतद उपस्मरत्यभीक्ष्णं संकल्पः अथवा अध्यात्म उपदेश प्रत्यगात्म संबंधी उपासना उपदेश यदेतद गच्छति वो च मन मन गच्छति व मन तो भागता फिरता है जहाँ भी जाता है वहाँ ब्रह्म है अधिष्ठान नाम रूप छोड़ तो मन जहाँ जाता है ब्रह्म है तो ब्रह्म को जाता जैसे ये विषय करता जैसे मन गच्छति मन तो जाता नहीं मन त्याग रहता है मन संकल्प विकल्प करता है इधर-उधर चिंतन करता है जहां-जहां चिंतन करता है सब ब्रह्म ही है ब्रह्म से बिना कुछ नहीं नाम रूप मिथ्या है अधिष्ठान ब्रह्म तो ब्रह्म को विषय करता जैसे अनेन चेतद उपस्मरति अनेन मनसा एतद उपस्मरति मन से इसका स्मरण करता है ब्रह्म का जहां मन जिस को चिंतन करता है सब ब्रह्म का ही चिंतन करता है ध्यान करते समय मन को एकाग्र करने के लिए प्रयास करते हैं होता है विक्षेप बहुत भागता रहता है इधर-उधर बड़ा प्रयत्न करते हैं हाथी को तो अपने बस में रख देते हैं अंकुश के द्वारा थोड़े छोटा अंकुश से हाथी अपने बस में और उत्कट विषादर सर्प को बस में रख देते हैं अपन जैसे कहेंगे से भालू को भी नचा लेते हैं व्याघ्र को भी रख लेते हैं किंतु ये छोटा मन है इसको रखना बड़ा कठिन है अपने का अधीन में अपना ही उसे अपना अधिकार है दूसरे पशु पक्षी में अधिकार नहीं उसको लेकर क्रूर जो मनुष्य को खाने वाले मानने वाले सर्पाय दंशन करने वाले उनको भी अधीन कर देते हैं और अपना जो मन है छोटा सा उसको अधीन करना बड़ा कठिन है भागता रहता है विक्षेप होता है बार-बार जो थक जाते थे गुरु उपदेश करते अरे मन जहाँ जाता है वहाँ ब्रह्म चिंतन करो कहाँ मन जाता है जहाँ जाता है नाम रूप छोड़ो क्या रहेगा ब्रह्म अभी जहाँ जाता है नाम रूप छोड़कर चिंतन करो जाने दो मन जहाँ जाता है जहाँ गया देखो वो क्या है नाम शब्द रूप को छोड़ दो क्या रहेगा तो अस्तिभाति प्रीति अस्तिभाति प्रियम नाम रूप चेत पंचकम आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम जगत रूपम ततोद्वयम अस्तिभाति प्रीति अस्ति घटोस्ति पटोस्ति अस्ति अस्ति सर्वत्र भाति घट दिखता घटो भाति पटो भाति अस्ति भाति अप्रिय कोई किसका किसको प्रिय होता है ऐसा लगता है नाम रूपम ये पांच में से आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम अस्ति भाति प्रिय और तो नाम रूप मिथ्या है तो मन जहाँ जाता है नाम रूप छोड़कर चिंतन करो वही ब्रह्म है वही ब्रह्म अनुसंधान करो मन को एकाग्र करने कर नहीं हो पाता है तो जहाँ जाता है वह नाम रूप छोड़कर ब्रह्म चिंतन करो तो ब्रह्म चिंतन कर से नाम रूप मिथ्या है ब्रह्म इसी प्रकार मन जो जाता है एतद उपस्मरति ये मन ब्रह्म का स्मरण करता है अभिक्षण संकल्प अभिक्षण विषम अत्यधिक संकल्प करता है मन वही ब्रह्म विषय का ऐसे चिंतन करें है मैं अधुना प्रत्यगात्मतया ब्रह्मणो यथा अभिव्यक्ति स्यात् तथो बुद्धिस्यते इत्याह ब्रह्म की अभिव्यक्ति ब्रह्म का ज्ञान प्रकाश ब्रह्म की ना उत्पत्ति ना प्राप्ति है केवल अभिव्यक्ति है ब्रह्म कोई दूर में नहीं प्रत्येक अपने स्वरूप सर्वव्यापक सर्वत्र है किंतु जैसे प्रकाश के बिना घट नहीं दिखता पास में होने पर भी इसी प्रकार ज्ञान के बिना ब्रह्म अभिव्यक्त नहीं होता अपना स्वरूप होने पर भी तो ज्ञान से प्रकाश से जैसे घट की उत्पत्ति नहीं घट की अभिव्यक्ति होती है विद्यमान की अभिव्यक्ति होती प्रकाश से इसी प्रकार ब्रह्म की अभिव्यक्ति होती है केन रूपेण प्रत्यगात्मतया जब प्रकाश से घट दिखेगा वहां प्रत्यगात्म तो नहीं दिखता है ना अहम घट को ही कहता है इदम घट अयम घट प्रकाश किंतु ब्रह्म की जब अभिव्यक्ति होती इदम तो अयम तो नहीं अहम ब्रह्म प्रत्यगात्मतया ब्रह्मण यथा अभिव्यक्ति यही चाहिए अहम अस्मि परम ब्रह्म ज्ञान प्रत्यगात्मत्व न ब्रह्म की जैसे अभिव्यक्ति हो जाए तथा उपदिश्यति इस प्रकार उपदेश ऐसे उपासना करते करते अहम अस्मि ब्रह्म ऐसे ज्ञान हो जाएगा अथ अनंतरम अध्यात्मम अध्यात्म आत्म संबंधी प्रत्यात्म विषय आदेश उच्यते प्रत्यात्म के विषय करने वाले आदेश उपासना के लिए उपदेश करते हैं यद तद गच्छति वचमन मन वस्तु तो जाता नहीं गच्छति व जाता जैसे लगता है मन जिस चला गया कहते अन्यत्र अन्यत्र मन आभुवम मन कहाँ चला गया जाता क्या मन तो अंदर है चिंतन करता है गच्छति वचमन जाता जैसे लगता है एतद् ब्रह्म ढौकतैव ढौकत जाता है ढौकिर गते चक्रिन ढौकसे लघुमाता है गते तो हे चक्रिन ढौकसे अत तुम तुम गच्छति यहां ढौकते का तो गच्छति त एतद् ब्रह्म गच्छति इव ढौकते का तो गच्छति मन ब्रह्म को जाता है जैसे जाता है क्या था विषय करोति वो ब्रह्म को विषय करता जैसे यथा यथा अनेन मनसा एतद् ब्रह्म उपस्मरति इसी मन से ब्रह्म का स्मरण करता है उपहे समीपतः स्मरति समीप में ब्रह्म के समीप स्मरण करता है साधको को साधक स्मरण करता है स्मृति मन से क्योंकि मनसा उपस्मृति का कर्ता कौन है साधक साधक स्मृति उपस्मृति समीपत स्मृति का साधक अभिक्षणम का भृशम संकल्पस्य मनसा मन में संकल्प होता है अत्यधिक बार-बार किसी में ब्रह्म विषय ब्रह्म विषय क्योंकि आदि मनस संकल्प स्मृति आदि प्रतिर अभिव्यज्यते ब्रह्म मनोपाधिक है ब्रह्म मन में संकल्प स्मृति आदि प्रत्यय ज्ञान होता है उसके द्वारा अभिव्यज्यते अभिव्यत होता है ब्रह्म विषय मानमिव विषय होता जैसे प्रत्यय के द्वारा अभिव्यत होता है प्रतिबोध विदितमतम मनो उपाधि के उपाधि के द्वारा उसमें संकल्प स्मृति आदि ज्ञान से ब्रह्म अभिव्यक्त होता जैसे इसलिए विषय क्रियमाणमिव मन का तो विषय है ही नहीं तो विषय जैसे होता है अभिव्यक्त होता है लगता मन से जब मन से वृत्ति ज्ञान है तो उसमें अभिव्यक्त होता है तो ब्रह्म तो लगता मन से ही हो गया अतएव अत स ब्रह्मणो अध्यात्मम आदेश ये ब्रह्म का ये अध्यात्म आत्म संबंधी आदेश है विद्युत निमेषणवत अधिदेवतम द्रुतम प्रकाशन धर्म अध्यात्म प्रकाशन धर्म अध्यात्म च मनः प्रत्यय समकाल अभिव्यक्ति धर्म धर्मी इति ऐसा आदेश पहले कहा था विद्युत निमेषणवद अधिदेवतम विद्युत जैसे बंद होना इससे देवता संबंधी और द्युतम प्रकाशन धर्मी द्युत प्रकाशन है विद्युतनमिव धर्मी ये हो गया अध्या अधिदैवम अधिदेवतम विद्यु निमेषणवत अधिदेवतम द्युत प्रकाशन धर्मी और अध्यात्मम च मन प्रत्यय समकाल अभिव्यक्ति धर्मी मन में जो प्रत्यय वृत्ति ज्ञान संकल्प आदि उसके समकाल अभिव्यक्ति जिसकी होती है वो अभिव्यक्ति धर्मी ब्रह्मी इति ऐसा आदेश ये आदेश ऐसे चिंतन उपासना कर टीका में एतत् प्रकृतम ज्योतिर्पम ब्रह्म प्रति मध्य मन गच्छति गच्छत वर्तते इति चिंतयेत इति यह उपदेश ये उपदेश है एतत् प्रकृतम ज्योतिर्व ब्रह्म ज्योति स्वयं प्रकाश ब्रह्म है मध्य मनु गच्छत वर्तते मेरा मन वही जाता है इधर-उधर जो जाता है अधिष्ठान ब्रह्म का दर्शन करे नाम रूप छोड़ करके वो स्वयं प्रकाश ब्रह्म वहाँ मन जाता है मन को एकत्र करने के लिए प्रयास पहले करे थोड़े शुद्ध होने पर कभी-कभी मन फिर भागता है तो जहाँ जाता है नाम रूप छोड़कर ब्रह्म चिंतन करे ये चिंतन तभी बनेगा थोड़े अंतकण शुद्ध हो वैराग्य हो मन के ऊपर थोड़ा अधिकार हो तभी कुछ नहीं करके सीधा ब्रह्म नहीं हो पाता है नाम रूप छोड़कर चिंतन करना नहीं होता है समझना चाहिए घट दिखता है नाम रूप छोड़ दे तो क्या है वो वो जो रहता है वो रूप केवल और कुछ नहीं अस्थि घटो अस्थि अस्थि अलग और घट अलग है वो तो पता नहीं चलता घटो अस्थि कहते सुन दो पदार्थ नहीं लगता है घटो अस्थि घट ही तो है और क्या अस्थि क्या है घट ही तो अस्थि है किंतु घट सन अस्थि पट सन अस्थि अस्थि घट पट पुस्तक सब के साथ अस्थि अस्थि का अन्वय होता है किंतु घट पट नहीं पट पुष्प नहीं पुष्प फल नहीं सब भिन्न भिन्न है तो अस्ति रूप सद रूप जो अनुगत सर्वत्र है वो सर्वत्र अस्ति रूप सद रूप ब्रह्म इसका चिंतन सर्वत्र जो अनुगत ब्रह्म है वो सर्वत्र मन उसको विषय करता है चिंतन करेंगे एतद् ब्रह्म ज्योतिरूपम ब्रह्म प्रति मध्यमानो गच्छत वर्तते मन विषय करता है जैसे जहां जहाँ जाता है शब्द रूप ब्रह्म सर्वत्र इति चिंतन करे ऐसा अभ्यास करने पर नाम रूप छोड़ करके ब्रह्म है मन वहाँ जाता है तो ऐसे चिंतन करे मन जा यहाँ चला गया वहाँ चला गया यहाँ चला गया हो शब्द रूप ब्रह्म वही है नाम रूप छोड़ दिया तो मन जाता है ब्रह्म को मेरा मन जाता है इसी चिंता है इसी चिंतन करे इति उपदेश स आध्यात्मिक उपदेश हुआ आध्यात्मिक और अभिक्षणम संकल्प अभिय पौन पुण्यना मम मनस संकल्प ब्रह्म विषयव मन में जो संकल्प होता है कुछ किसी विषय संकल्प हो और विषय का स्वरूप चिंतन करें विषय क्या है जो नाम रूप दिखता है वास्तव तो ब्रह्म ही है सर्प दिखता है वो सर्प क्या है वास्तव विचार करने से क्या है राज्य अधिष्ठान ही है अधिष्ठान राज्य से भिन्न सर्प कल्पित सर्प नहीं है इसी प्रकार जो कुछ पदार्थ है मन जिस विषय का संकल्प करता है वो वस्तु विषय नाम रूप मिथ्या का बात कर देंगे तो अधिष्ठान ब्रह्म स्वरूप है तो ब्रह्म उसका संकल्प बार-बार मम मन संकल्प मन संकल्प ब्रह्म विषय वेति ध्यायत ऐसे ध्यान करना चिंतन जहाँ मन चिंतन करता है मन जाता है वो तो ब्रह्म है ऐसे ध्यान करते करते प्रत्येक भूत से स्यात् ब्रह्म तो प्रत्येक भूत है अपने स्वरूप आत्मा है जो ब्रह्म सब सर्वव्यापक है वही ब्रह्म अपना प्रत्येक आत्मा है दो नहीं है प्रतिबिंब बनाना है किंतु बिंब रूप ब्रह्म है आकाश के समान अहम आत्मा गुड़ा कैसे कहा मैं ही आत्मा हूं सर्वत्र वही ब्रह्म तत्सृष्टा तदेवानु प्रविशत का और ब्रह्म सृष्टि करे वही प्रविष्ट हो गया वही प्रविष्ट जैसे उपलब्ध है तो सर्वत्र आत्मा ब्रह्म एक ही है वही प्रत्यहूत ब्रह्म की अभिव्यक्ति तब होता है जब ध्यान करे बार-बार संकल्प ब्रह्म विषय का मैं जहां मन जाता है वो तो ब्रह्म है ऐसे सर्वत नाम रूप से उड़कर ब्रह्म चिंतन करे ऐसे ध्यान करते करते अहम अस्मिन् परम ब्रह्म साक्षात्कार होता है क्योंकि मन उपाधि के ब्रह्म है मन संकल्प स्मृति आदि प्रत्यय के द्वारा ब्रह्म की अभिव्यक्ति होती भाष्य में धर्म एवं आदि एवं आदिश्यमान ही ब्रह्म मंद बुद्धि गम्यम भवति इति ब्राह्मण आदेश उपदेश ऐसे विद्युत मत पहले आ गया इसके पर उत्तम अर्थ संक्षेप भाष्य में संक्षेप से कहा विद्युत निमेषणवत अधिदेवतम देवता संबंधी चिंतन द्रुतम प्रकाशन धर्मी शीघ्र प्रकाश करने वाले और अध्यात्म देह में च मन प्रत्यय समकार अभिव्यक्ति मन प्रत्यय मन में संकल्प विकल्प जो वृत्ति ज्ञान है उस काल ब्रह्म की अभिव्यक्ति होती ये आदेश है एवं आदिश्यमान ही ब्रह्म ऐसे उपदेश करने पर ब्रह्म का में भवति क्योंकि ब्रह्म मन का विषय नहीं है ऐसे आप उपमा से आदेश करने पर स्वयं प्रकाश ब्रह्म है विद्युत के समान है और ऐसे उसका संकल्प मन उसका ध्यान करता है संकल्प करता है ऐसे चिंतन करते करते मंदबुद्धि गम्य मंद बुद्धिर्यस्य ये समते बुद्धे ते तेर गम्य ये ब्रह्म का ज्ञान होता है इति ब्राह्मण आदेश उपदेश ब्रह्म का उपदेश उपासना के लिए नहीं निरुपाधिकमेव ब्रह्म मंद वीर आकलितम युक्त शक्यम ब्रह्म निरुपाधिक है उपाधि रहित है शुद्ध मंद बुद्धि वाले उसका चिंतन नहीं कर सकते निश्चय क्या करेंगे निश्चय तो न सक्यम निरुपाधिक तो कुछ लोग तो निरुपाधिक ब्रह्म है ही नहीं कहेंगे सगुण ब्रह्म ईश्वर है उससे अतिरिक्त निरुपाधिक ब्रह्म है ही नहीं कहेंगे यद्यपि शास्त्र में है बार-बार जितने भी पुराण देखो सगुण ब्रह्म उसकी स्तुति करते समय कहेंगे आप माया गुण से ऊपर है माया रहित है निर्गुण है निराकार है यही से स्तुति होती है अष्टादश पुराण में कोई पुराण निकालो जो परब्रह्म के कहेंगे सब तो पहले से उस सगुण सर्वज्ञ सर्व शक्तिमान जगत सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाले अब सर्वज्ञ है सब कुछ करने वाले सब के अंदर बाहर है ये सब कह करके अंदर के माया से ऊपर है माया रहित है त्रिगुण रहित गुणातीत है नाम रूप रहित है आकार रहित है निराकार है अंत में फिर ऐसे कहेंगे सब पुराण में है निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म ही मुख्य है उसको प्रतिपा ज्ञान कराने के लिए यहाँ से जाने के लिए क्रम से अध्यारोप अपवाद प्रक्रिया है सगुण ब्रह्म को पहले ध्यान करे सगुण ब्रह्म का की उपासना करते करते कि सगुण ब्रह्म जो है वो माया से ही सगुण है माया तो गुणात्मिका और माया से रहित शुद्ध पुरुष है और वही असब का आत्मा है क्योंकि बिंब दृग रूप चेतन व्यापक है ब्रह्म ब्रह्म शब्द का से व्यापक देश काल वस्तु परिचित रहित सब देश में सब काल में सब वस्तु उससे भिन्न कुछ भी वस्तु नहीं तो हम अस्मि ब्रह्म ऐसे ज्ञान होता है निरुपाधिक ब्रह्म नहीं मंदबुद्धि भी आकलित तो मंदबुद्धि से ज्ञान विचार नहीं हो सकता है इसे सोपाधिक ब्रह्म चिंतन करके फिर धीरे-धीरे निरुपाधिक ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करे इसलिए पहले उपासना सोपादिक ब्रह्म की उपासना निर्विशेष ब्रह्म जहाँ कहा जाता है वेद में उसको जानने ज्ञान प्राप्त करे और ब्रह्म भी कहा गया शास्त्र में उपासना करने के लिए इसे सोपाधिक ब्रह्म की उपासना के लिए ये उपदेश किया गया पंचम मंत्र का वाक्य भाष्य हां एक दूसरा एक सौ पंद्रह में अथ अनंतरम अध्यात्मम अधिदेव तो उपासना के तीन उपदेश के बाद अध्यात्मम आत्मनो अधि अध्यात्मम आत्मनो अधि आत्मनि आत्म संबंधी आत्म विषय आत्म संबंधी अध्यात्म उच्यते इति वाक्य शेष आत्म संबंधी उपासना यदि यथोत्तम लक्षण ब्रह्म गच्छति व गच्छति का प्राप व ब्रह्म को मन प्राप्त करता जैसे ब्रह्म द्वितीयंत ब्रह्म को जाता जैसे मन जाता मतलब विषय करती विषय करता मन को मन ब्रह्म को विषय करता है न विषय करोति विषय करोति विषय करता जैसे विषय नहीं कर पाएगा मन क्योंकि मन सविषयत्वात् ब्रह्मण विषय नहीं करता है मन तो इधर उधर जाता है विषय नहीं कर पाता है ब्रह्म को क्योंकि मन सविषयत्वात् ब्रह्मण ब्रह्म तो मन का विषय है अतो मन न गच्छति मन नहीं जाता है विषय करोति इव विषय करता है जैसे येन आहुर मनोमतमिति युक्तम येन मनसा न मनुते येन आहुर मनोमतम मन से कोई जान नहीं जान सकता है जिसके द्वारा मन भी विषय हो जाता है प्रकाशित तो होता है इसलिए मन नहीं जाता है मन प्रकाश नहीं करता है मनो गच्छतीव चिंतन करे विषय करता है जैसे जहाँ-जहाँ मन जाता है वहाँ ब्रह्म है तो मन ब्रह्म को जाता जैसे गच्छति वैति तो मनसो भी मनस्त्वात् अरे गच्छति क्यों कहा क्योंकि जो ब्रह्म है मन का भी मन है चक्षु के चक्षु जैसे का मन का भी मन है मन में जो मनन सामर्थ्य ब्रह्मकृत मन को भी विषय करने वाले मन को भी प्रकाश करने से गच्छति व कहा वो जाता जैसे ही मन उसको विषय कर मन उसके द्वारा प्रकाशित होता है तो हम जाता जैसे वह आत्मभूतत्वाच ब्रह्मण तत्समीपे मनो वर्तते इति उपस्मरति अनेन मनसा एव तद ब्रह्म विद्वान और ब्रह्म में आत्मभूत अपना स्वरूप ही ब्रह्म है कोई दूर में है नहीं सर्व विद्यम सर्वत्र विद्यमान है आत्मरूप से विद्यमान है आत्मभूत है समीप मन वर्तते इति तो मन समीप में मन बिल्कुल ब्रह्म के समीप मन के समीप ब्रह्म है इति उपस्मरति अनेन मनसा इसी मन के द्वारा स्मरण करता है तद ब्रह्म वही ब्रह्म का स्मरण करता है सबका नाम रूप छोड़ता अधिष्ठान ब्रह्म जितने पदार्थ है सब ब्रह्म ही है वासुदेव सर्वम सर्वम कलिदम ब्रह्म घट भी हो मन भी हो कुछ भी हो नाम रूप छोड़ा तो ब्रह्म है तो मन उसका स्मरण करता है पास में रह करके ब्रह्म के जहाँ है मन उसके समीप है व्यापक है ब्रह्म मन कहाँ जाएगा सब पदार्थ ब्रह्म में ही है तो उपस्मृति अनेन मनसायव एतद् ब्रह्म मन के द्वारा ब्रह्म स्मरण करता है तो उपस्मृति का कर्ता कौन होगा मनसाय तृतीयांत मनुषा एव उपस्मरति करता नहीं है विद्वान मनस तद ब्रह्म विद्वान उपस्मरति जानने वाला मनुष्य उसका चिंतन करता है साधक विद्वान यस्मात् तस्मात् ब्रह्म गच्छतीव इति उच्यते ब्रह्म को जाता जैसे विषय करता जैसे मन ऐसे कहते हैं क्या संकल्प करता है मन के द्वारा अभिक्षम संकल्प क्या पुनः पुनश्च बार-बार संकल्प करता है टीका में पंचम अच्छा अहं ग्रहणे वे तत् कर्तव्यमिति अभिवृत्य आध्यात्मिक ब्रह्म रूपमाह पहले अधिदेव तक उपदेश करने के बाद अध्यात्म उपदेश क्यों करते हैं आत्म संबंधी आत्म संबंधी होता है आत्मा ही ब्रह्म है आत्म संबंधी ब्रह्म उपदेश मन ब्रह्म पे समीप रह करके जाता जैसे ब्रह्म के समीप है ब्रह्म आत्मभूत है तो ब्रह्म को चिंतन करना आत्मभूत अहम अस्मि सब उपासना में श्रेष्ठ उपासना है अहंग्र उपासना अहम अस्मि ब्रह्म तो मन को अभी यहां जो चिंतन किया गच्छति व मन इसको अहंग्रहण एतद उपासना कर्तव्यम अहम अस्मि परम ब्रह्म मन चिंतन किया मैं ही ब्रह्म हूँ मन में जो ब्रह्म का चिदाभास दिखता है वही जीव सत्य का वाच्यार्थ है चिंतन वही करता है जीव साधक जो साधक चिंतन करेगा शुद्ध ब्रह्म नहीं है शुद्ध ब्रह्म चिंतन नहीं करता जीव चिंतन करता है अधिष्ठान चैतन्य तो सर्वत्र रहेगा सूक्ष्म शरीर में चिदाभास है वही चिदाभास को जीव शब्द का वाच्यार्थ कहते हैं और वो चिंतन करता मैं ब्रह्म ही हूँ क्योंकि चिदाभास जो दर्पण में प्रतिबिंब दिखता है वो प्रतिबिंब बिंब से अलग है ही नहीं उसका वास्तव स्वरूप बिंब है चिदाभास चिंतन करता मैं अहम सिं ब्रह्म हूँ जी ब्रह्म में ही हूं ऐसे चिंतन करते करते दृढ़ निश्चय हो जाए तो ही ज्ञान हो गया जीव ऐसे चिंतन करे अहम अस्मि परम ब्रह्म भगवान कहते मैं ही अहम आत्मा गुणा के सर्वभूता से स्थित सारे भूत के अंतकण में मैं आत्मा स्थित हूं और वासुदेव सर्वम सर्वम खलु ब्रह्म यही कहती श्रुति स्मृति सब कुछ ब्रह्म है तो अहम अस्मि परम ब्रह्म इस चिंतन करना चाहिए अहं ग्रहण एवं एतत् कर्तव्य में चिंतन उपासना जिसका विधान किया गया अहंग्रह से करना चाहिए इत अभिप्रेत इस अभिप्राय से आध्यात्मिक ब्रह्मण रूपमा देह संप्रत्यय आत्म संबंधी ब्रह्म का रूप का आत्मा आत्मभूतत्वाच गच्छतिव तु मनसोपि मनसा आत्मभूतत्वाच ब्रह्मण ब्रह्म स्वयं आत्मस्वरूप तत्समीप मन वर्तते इति ऐसा मनो ब्रह्म आत्मा के समीप में तो उपस्मरते अनेन मनसा इसे विद्वान चिंतन करता है इसमाद तस्माद ब्रह्म गच्छति वैसे कहा जाता है अभिक्षम संकल्प पुनः पुनः संकल्प ब्रह्म प्रेषित से मनसा ब्रह्म के द्वारा प्रेषित होता है मन में सामर्थ्य कहाँ से आएगा जड़ है तो ब्रह्म उसका प्रेरक है कहने से तो पहले प्रश्न पूछा था ब्रह्म की सत्ता स्फूर्ति से ही जड़ में मन में प्रेरणा गमन विषय करना होता है मन में इंद्रिय में जो सामर्थ्य हो ब्रह्म से प्रेषित हम तो ब्रह्म से ही प्राप्त होता है ब्रह्म प्रेषण प्रेषण करता है जैसे चोरी करने वाले चोरी करता है सत्कर्म करने वाला सत्कर्म करता है सबको प्रकाश देता है सूर्य भगवान इसी प्रकार ब्रह्म सबको कार्यक्षम बनाता है जड़ में भी कुछ कार्य होता है ब्रह्म के द्वारा तो ब्रह्म के द्वारा प्रेषित जैसे हम अत उपस्मरण संकल्प आदि भी लिंगेर ब्रह्म मनो अध्यात्म भूतम उपास्यमिति अभिप्राय ये लिंग से ब्रह्म का चिंतन करना है उपस्मरण स्मरण समीप में रख संकल्प स्मरण संकल्प निश्चयाति ये लिंग हो गया हेतु हो गया ज्ञापक हो गया ये सब क्रिया है स्मरण संकल्प आदि जड़ में जो क्रिया होती है चेतन के अधीन इनका कोई अधिष्ठान चेतन है वो ब्रह्म मनो भूत मन का वास्तव स्वरूप है मन का जो अध्यात्म भूत मन का स्वरूप है ब्रह्म मन तो नाम रूप मिथ्या है उसका वास्तव स्वरूप अध्यात्म भूतम उपास्यम अहम अस्मि जो जहाँ जल में घड़ा में जल रखा तो जल में भी आकाश है जल में आकाश का प्रतिबिंब दिखता है वो प्रतिबिंब वास्तव नहीं वास्तव आकाश वहां है वास्तव आकाश सर्वत्र है प्रतिम्ब आकाश का वास्तव स्वरूप सर्वस्थ स्थित आकाश इसी प्रकार चिदाभास का वास्तव स्वरूप ब्रह्म है तो मन का भी मन में चिदाभास दिखता है तो मन का अध्यात्म हो तो वास्तव स्वरूप ब्रह्म उसको उपासना अहम अस्मि ऐसे अहंग्रह से करनी चाहिए एक सच्चा में तद्ध तद्वनम नाम तद्वनमित्युपासितव्यम स य एतदेव वेदाभिहैनम सर्वाणि भूतानि संवांछन्ति तद्ध प्रसिद्धेत ब्रह्म तद्वनम नाम तद्वनम नाम तस्य वनम तद्वनम तस्य प्राणी वर्ग का संभजनीय सब उसका वन संभक्तो प्राणी वर्ग सब उसकी स्तुति करते तद्वनम इति उपासितव्यम तद्वन इसे नाम हुआ परमात्मा का इस नाम से ब्रह्म की उपासना करें सयह सय एतदेवं वेद तद्वन नाम वाले ब्रह्म को उपासना करता है एनम सर्वाणि भूतानि अभिसंवांचति सारे भूत उसकी प्रार्थना करते हैं ऐसे परमात्मा की सब प्रार्थना करते ऐसे उपासक जो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है उसको सारे भूत प्रार्थना करते इच्छा करते सम्यक वांछन्ति किंच तद ब्रह्म ह तद्ध ब्रह्म ह काथ किल प्रसिद्धम तत् ब्रह्म तद्वनम नाम तस्य वनम तद्वनम षष्ठी समास में तद्वनम तस्य का अर्थ प्राणी जातस्य वनम संभजनियम प्राणी जातस्य प्रत्यगात्म भूतत्वात् वन का अर्थ वननियम सारे प्राणी का प्रत्यगात्म है ब्रह्म प्रत्यगात्म भूतत्वात् सारे प्रतिबिंब का वास्तव स्वरूप बिंब एक है प्रतिबिंब अनेक होने पर भी सारे दर्पण में प्रतिबिंब दिखता है सब प्रतिबिंब का वास्तव स्वरूप बिंब है इसी प्रकार सारे प्राणी जात चिदाभास उनका वास्तव स्वरूप स्वयं ब्रह्म है प्रत्यगात्म भूतत्वाद वही वननियम संभजनियम वही संभोजन है किसमें हम हाँ, भा नहीं चाहिए संभजनियम सम्यक भजनियम ब्रह्म अतः तद्वनम इसे उसका नाम तद्वन नाम प्रख्यात प्रसिद्ध है ब्रह्म वनमिति यत ऐसे प्रसिद्ध है इसलिए इसकी उपासना करे तस तद्वनमिति अनेनैव गुणाभिधानेन उपासितव्यम इसी तद्वन नाम नाम रूप गुण कथन के द्वारा सगुण ब्रह्म की उपासना करे उपासितव्यम चिंतनीय उपासना है चिंतन ध्यान जो उपासना करने के लिए कहते वही ध्यान है ध्येयम चिंतनीयम उपासनीयम एक ही अर्थ है और ध्यान का था खाली सो छोड़ कर बैठ जाना सो जाना नहीं चिंतन करना चाहिए अब हाँ, विक्षेप पहले होता तो विक्षेप निवृत्ति करने के लिए प्रयास करें किंतु विक्षेप निवृत्त होने के बाद चिंतन भी चलता रहे और चिंतन नहीं है परमात्मा ध्येय का चिंतन नहीं हुआ तो ध्यान नहीं है ध्यान का था नहीं दिमाग खाली कर दिया लय अवस्था में रह गया अथा सो गया ऐसे बहुत लोग ध्यान में बैठ कर सो जाते हैं ध्यान करते लगता है थोड़ा रह गया वो जब विक्षेप बहुत होता है दुख लगता है तो थोड़ी देर का भी ठंडा हो गया लय अवस्था में चली गई लगता आज ध्यान आशा हो गया ध्यान क्या सो कर चला गया ध्येय का चिंतन होना चाहिए खाली करने का नहीं यत तो ध्यान करे तद मनमित इसी नाम से तद हेतु तो गुणाभिधान उपासितव्यम मिति अनेन नामना उपासक से फलमा तद्वन नाम विशिष्ट सगुण ब्रह्म का उपासना करे तो फल कहते स यह कश्चित एतद यथोत ब्रह्म एवं वेद यथोत ब्रह्म को इसी प्रकार एवं काथ यथोत गुणम वेद यथोत गुण है यथोत गुण यस्य ऐसे गुण वाला ब्रह्म को वेद वेद ज्ञानार्थ के कहीं के ज्ञान होता है कहीं के उपासना वेद का तो उपासते उपासना करता है सगुण ब्रह्म का जहाँ कथन होगा वहाँ उपासना है जहाँ ज्ञान होगा निर्गुण ब्रह्म है अतो अभिस एनम उपासकम सर्वानि भूतानि अभि के संवांचन्ति के साथ अभि संवांचन्ति व्यवहिताश्च ते प्राग धातु हो गति उपसर्ग संज्ञा का धातु के पहले प्रयोग होता है छंद से परेपि छंद में पर में भी आ जाता है अरे व्यवहिताश्च व्यवहित करीब होता है संबाहुभ्याम धमति संप्रतत्रयी संबाहुभ्याम धमति संबाहुभ्याम धमति सम धमति क्या के सम है परे भी धमति का जो सम है संधवति होना चाहिए धमति सम आगे पतत्रयी संपतत्रय नहीं संबाहुभ्याम धमति सम पतत्रयी धमति सम पतत्रयी ऐसा बोलना चाहिए किंतु संभाव्याम धमति संपतत्रयी ये लंबा शब्द है संबाहुभ्याम वेद पाठ करने वाले से बोलते हैं संबाहुभ्याम धमति संपतत्रयी ऐसे छंद से परे भी धम धमति सम संधमति के लिए धमति सम छंद में पर में भी उपसर्ग का प्रयोग होता है और व्यवहिताश्च व्यवहित कैसे हुआ अभी संवांचति भूतानि सम अभी कहां या वेद अभी हैनम सर्वाणि भूतानि हैनम सर्वाणि भूतानि कितने पद बीच में आ गए चार पदे पद ह एनम सर्वाणि भूतानि चार के आगे संवांचति आया अन्य करते समय अभी संवांचति देखो भूतानि सर्वाणि हैनम उपासकम सर्वाणि भूतानि अभिसंवांचंती ह हाँ, अभिसमाज ह हाँ, इनम ह हाँ। अभिसमाज देह प्रसिद्ध है प्रार्थयन्ते एव प्रार्थना करते सब चाहते प्रार्थना करते ये एव यथा ब्रह्म यथा ब्रह्म ब्रह्म द्वितीयांत जैसे ब्रह्म की सब प्रार्थना करते ऐसे उपासक भी की सब प्रार्थना करते हैं अर्थात ऐसे ही चिंतन ध्यान उपासना करे तद्वन नाम से ये षष्ठ मंत्र हो गया इसके वाक्यवासी कुछ है क्या तो तस्य च अध्यात्म उपासने गुण विधियते अध्यात्म प्रत्येगात्म संबंधी उपासना करने के लिए गुण का विधान है तद तदवनम क्यों पहले अहंग्र उपासना करने के लिए कहा तो गुण उपासना करते हैं तद्ध तद्वनम तदेतद् ब्रह्म तच्च तद्वनम च तद्ब्रह्म वनम तच्च तदवनम च ये क्या है तदेतद् ब्रह्म तच्च तद्वनं च ये विग्रह है तच्च तद्वनं च इसमें कितने पद है चाहे तत् च तद्वनं आगे हाँ, च भी है हां पांच तत् च तद वनम च तद्वनम इसका विग्रह जैसे महादेव महान चासो देवश्च तद्वनम श्रुति में है तद्ध तद्वनम ये तद्वनम देखो प्रतीक हुआ उसका विग्रह तद तद बनम तद तद ब्रह्म तत्पर से तत्पर से क्या लेना ब्रह्म तच्च तद बनम च ये तद बनम का विग्रह तद वनम तच्च तद वनम च तच्च तद वनम च महान च असौ नीलम च तद उत्पलम च नील उत्पल कैसे श्रोता नीलम च तद उत्पलम च इसे तच्च तद वनम च इति तद्वनम तत् क्या है परोक्षम तद और वनम दो शब्द एक तत् तत् गण से परोक्ष तदिति परोक्ष भी जाने आद और वन का अर्थ संभोजनीय इस संभोजन वनते तत्कर्मण तस्मा तद्वनम नाम वनते तत्कर्मण संभव वन संभक्त तत्कर्मण का तदर्थक संभोजन अर्थक है वन धातु ये तस्मा तद्वनम नाम प्रसिद्ध है ब्रह्म ब्राह्मण गौण में इदम नाम ये गौण नाम है टीका में वन संभजत न इत्यस्य धातुः संभजनार्थस्य रूपं वनमिति वन संभजने संभक्तु भजनार्थ संभजनार्थक रूपे तत्कर्मण तत्कर तदर्थक तत् तत्प्रसिद्ध वनम न गृहते इत्यर्थ इसे प्रसिद्ध वन नहीं लेना संभजने लेना इसलिए कहा गौण ये नाम गौण क्या है अवयव शक्ति लभ्यम न रूढ़िया समुदाय शक्ति नहीं तो रूढ़ी से समुदाय शक्ति नहीं तो वन का तो अरण्य जंगल हो जाएगा ये वन उसको नहीं लेना प्रसिद्ध वन को अवयव शक्ति लभ्यम ये नाम ही गौण मुख्य होता है रूढ़ी अर्थ प्रसिद्ध अर्थ और अवयव शक्ति से होता है तो ये गौण नाम हुआ क्योंकि योगा रूढ़िर बलिय बलियसी रूढ़ी बलिय बलियस्त्वम बलवत्तर होने से प्रसिद्ध होने से पहले उपस्थित होगा किंतु यहाँ वो गौण नाम है गौण नाम से मुख्य अर्थ वन अर्थ जंगल नहीं हिलना संभोजनीय ब्राह्मणो गौण विदम नाम तस्माद अतेन अनेन गुणेन तद्वनमिति उपासितवे ऐसे तद्वन नाम रूप ब्रह्म गुण चिंतन करके उपासना करे सय कश्चित एतद यथोतम एवं यथोतेन गुणेन तद्वनमिति अनेन नामना अभिधेय ब्रह्म वेद उपास्ते भाष्य में ऐसे कहते कहते प्रतिपद का अर्थ कर देते हैं स य स मंत्र कौन य कचित जो उपासना करता मंत्र में आया स य एतदेवम वेद स मतलब वह वह मतलब कौन है हैं यह कचि जो कोई जो कि चिंतन का यह कचि स कहते यह कचि एतद स य एतद एतद का अर्थ यथोत्तमेव यथोतम ब्रह्म एतद ब्रह्म को ऐसा एवं वेद एवं का यथोतन गुणेन जो गुण कहा गया क्या गुण कहा गया तद्वन तद्वन नाम नाम रूप गुण तद्वन मितनेन यही गुण है तद्वन इतनेन नामना तद्वन इतनेन नामना इसी नाम से नाम से जो अभिदेह नाम का जो अर्थ है ब्रह्म नामना अभिधेयम ब्रह्म वेद वेद का अर्थ उपासते तय एतदेवम वेद या इतने का अर्थ हुआ तसेत फलमुच्यते उसका फल कहते सब फल क्या है मंत्र में आया सर्वाणि भूतानि एनम अभिसंवांचन्ति हो सर्वाणि भूतानि एनम का अर्थ उपासकम जो उपासना करता है एनम अभिसंवांचन्ति ह अभिसंवांचन्ति य यह अभिसमासिद्धि अभी संभजनते सेवनते स्म इति अर्थ सेवन करते सेवन करते थे तो स्म करण से प्रसिद्ध है फल प्राप्त करता है ये सेवन करते सेवा करते हैं उसमें प्रार्थना करते इसमें करते सेवा करते हैं यथा गुण उपासन में फलम क्योंकि जैसे गुण चिंतन करके उपासना करता है ऐसे फल प्राप्त करता है ब्रह्म का चिंतन करता है सबके प्रार्थनीय सारे प्राणी वर्ग के संभजने रूप से चिंतन करता है इसलिए भज सेवायाम सारे प्राणी उसकी ब्रह्म की सेवा न करते सेवा करते हैं प्रार्थना करते हैं तो उपासक भी ऐसे ही हो जाता है सब प्राणी उसकी सेवा करते हैं सब सेवनते और सम भजन भज सेवायम भजन करते प्रार्थना करते अथवा सेवा करते हैं यथा गुण उपासना में फल होता है यतम तम यथा यथा उपसते तदेव भवति ये मुद्गल उपनिषद में तम यथा उपासते तदेव भवति जैसे जैसे उपासना करता है ऐसे फल प्राप्त होता है ओम आप्यायन्तु ममांगं